बिलाशुबा यकीनन इससे पहले भी उन्होंने फितने में डालना चाहा और आपके लिए कई मामला को उलट पलट किया यहाँ तक कि हक आ गया और अल्लाह ताला का हुक्म गालिब हो गया हालांकि वो नापसंद करने वाले थे